भद्रं कर्णे श्रृणीयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरम्यै स्तुष्ट्वा पुंसस्तनुभृर्दशेमदेवैतम् यदायुः ॐ शांति शांति शान्ति मांडव्य के का वैतथ्य प्रकरण के पंचदश कारिका तक विचार हो गया आगे षोड़श कारिका के ऊपर विचार है पंचदश कारिका में पूर्व पक्ष ने एक शंका उठाई थी उसके उत्तर में कारिका थी कहा एक पदार्थ स्पष्ट है एक अस्पष्ट है तो दोनों को एक समान मानना ठीक नहीं मिथ्या मानना ठीक नहीं जो मन के भीतर कल्पना होती है वह अस्पष्ट है स्फूट है और इंद्रियों के सहित होकर के जो पदार्थ होते हैं मन के बाहर हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं तो इसलिए जागृत को मिथ्या मानना ठीक नहीं पूर्वाज ने कहा था तो सिद्धांत ने उत्तर दिया उसका कार्यक्रम का कहा जो मन के भीतर है अस्पष्ट इसलिए केवल एक ही इंद्रिय का विषय बना हुआ अंतर इंद्रिय का विषय बना हुआ कल्पना है और बाह्य पदार्थ जो है बहिर् इंद्रियों के साथ है मन और बहि इंद्रिय दोनों मिलकर हो रहे हैं इसलिए स्पष्ट हो रहे हैं किंतु मिथ्यात्व में कोई भेद नहीं है दोनों मिथ्या ही है स्वप्न में भी यही टीकाकार दृष्टांत या स्वप्न में भी ऐसा हो जाते हैं दो कल्पनाएं होती है स्वप्न में भी केवल मन से कल्पना कभी मानता है कभी इंद्रियों सहित होकर के तो दोनों मिथ्या ही मानते हैं स्वप्न के पदार्थ वैसे जागृत का भी है मिथ्या ही है ये कहा अब ये सोलहवें कारिका में शंका है पूर्वादि ने कहा भवत सर्वस्व कल्पित तो, तो मान लेते हैं सारे कल्पना है करके जा, माने जागृत भी स्वप्न भी सब कल्पना है मान लेते हैं वो सा पुनः सर्वकल्पना के न फिर वो जो कल्पना सारी कल्पना है किस माध्यम से होगा कल्पना किसकी कल्पना पहले करे किसकी बाद में करे क्या क्रम होगा उसका सा कल्पना पुनः सर्वकल्पना सारी कल्पनाएं जो होती है माने आभ्यंतर कल्पना बाह्य कल्पना दो प्रकार की आध्यात्मिक और बाह्य दो प्रकार की जो कल्पना है कुछ वस्तु की कल्पना भीतर ही होती है कुछ बाहर हो रही है कल्पना केर द्वारे किस माध्यम से ये शंका करके उत्तर दिया था कारिका में कहा था जीवम कल्पयते पूर्वम तथो भावान पृथक विधान बाह्यान आध्यात्मिका शैव यथा विद्य तथा सबसे पहले वो परमात्मा सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं माया विशिष्ट परमात्मा ईश्वर को कल्पना करेगा शुद्ध में कल्पना करेगा जीवम का पूर्वम जीवम कल्पते पहले तो जीव की कल्पना करेगा जीव की कल्पना पहले करेगा बाकी जगत का कल्पना बाद पश्चात जीवम ततो उसके पश्चात जीव कल्पना के पश्चात भावान पृथक भावान पदार्थान विषयान जो विषय हैं आध्यात्मिक विषय हैं और बाह्य विषय हैं दो प्रकार के विषय हैं केवल मन में ही भासते हैं सुख दुख आदि राग द्वेष आदि मन में होते हैं आध्यात्मिक विषय भीतर हैं और शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि बाह्य विषय हैं दो प्रकार के भावान माने विषय पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार के विषय हैं आध्यात्मिक भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं और बाह्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो विषय हैं सबकी कल्पना करता है क्या है भावान पृथक बाह्यान आध्यात्मिकाश बाह्य और आध्यात्मिक सभी की कल्पना द्वितियां है सब सबकी कल्पना कर रहे यथा विद्य तथा स्मृति वो परमात्मा बाह्य पदार्थ की कल्पना जब करेगा उस काल में क्या हो जाता है पहले जीव रूप में आ जाता है और जीव रूप में होने के बाद में अपने अपने भोग्य और भोक्ता के भिन्न भिन्न प्रकार है चौरासी लाख योनियों में जीव हैं भोग्य पदार्थ भिन्न भिन्न हैं तो जिस जीव के जैसे संस्कार होगा पहले का संस्कार होगा जैसा भोग्य होगा जैसे ज्ञान होगा उसको उसी प्रकार के स्मरण भी उठेगा उसको फिर आगे कर्म करने लगेगा ये कहना चाहते यथा विद्या विद्या तथा स्मृति जिस प्रकार की विद्या है विज्ञान है उसके पास उस माने जीव रूप से कल्पना करना है विषयों की कल्पना क्योंकि अनैन जीवे न आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे जागरवाणी ऐसा सूत्र है ये जो जगत को ठूलीभूत बनाओ व्यवहार के योग्य बनाऊं जीव रूप से प्रवेश होता है ऐसा परमात्मा का वचन होता है और तत्सृष्ट और तदेवानुप्राविशत ऐसे भी श्रुति है उसको सृष्टि करके उसी में प्रविष्ट होता है ऐसा है तो कहा ठीक से देखें आत्मा ही सर्वम मायावशन कल्पयन आदो विशिष्ट रूपेण जीवम कल्पयती जो आत्मा है माने विशिष्ट आत्मा वचन माया विशिष्ट आत्मा सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं ईश्वर जिसको बोलते हैं शुद्ध ब्रह्म कल्पना नहीं करेगा उसमें शक्ति नहीं है कुछ भी करना हो तो शक्ति चाहिए शुद्ध ब्रह्म में शक्ति नहीं वो तो निर्विशेष है कोई विशेष है ही नहीं माया विशिष्ट नहीं है यही है नहीं कहते हैं आत्मा ही सर्वम माया विषय न कल्पना सबकी कल्पना करता हुआ आत्मा मैंने ईश्वर विशिष्ट आत्मा माया के वश्य माया सहारा लेकर के सबकी कल्पना करता आध्यात्मिक और बाह्य पदार्थ से भी कल्पना करता होगा विशिष्ट रूपेण जीवन कल्पयती माया के द्वारा सभी कल्पना करता है किंतु विशिष्ट रूप से जीव की कल्पना करता है विशिष्ट रूपेण जीवन कल्पयती तो विशिष्ट रूपेण माया वसेना जीवन कल्पयती ऐसा नहीं करना ऐसा विशिष्ट रूप तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं शुद्ध रूपेण रहा शुद्ध रूप से तो जीवत्व की कल्पना भी नहीं कर सकता क्यों वास्तविक स्वरूप है वो शुद्ध है वहां कुछ भी होना नहीं वो कल्पना से परे है इसलिए विशिष्ट ने कहा विशिष्ट रूप से यानी माया विशिष्ट होकर के जीवत्व की कल्पना करता है परमात्मा ये कहा आगे कहते हैं तत्सृष्ट तदेवान सुनते हैं मानी वही परमात्मा ही जीव भाव में आकर के फिर बाह्य और आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करता है कल्पना करता है कहा क्योंकि तत्सृष्टा तदेवा अनुपराक्षत उसको बना करके उसी में प्रविष्ट हुआ ऐसा है श्रुति में है स्वयं जीव भाव में आपत्ति तो परमात्मा स्वयं जीव भाव जीवत्व को प्राप्त होता है भाव माने त्व जीवत्व जीवत्व को प्राप्त हो जाता है तद्वारेणा पुनर्नाना विधान भावानुमति उस जीव के माध्यम से जब जीव भाव में आ गया जीव के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों का कल्पना कर लेता है निर्माण करता है कहा न जीव द्वारे न जीव के माध्यम से जीव के सृष्टि करने में तो माया को सहारा लेकर के स्वयं करेगा उसके बाद वही परमात्मा ही करेगा सारे पदार्थों की सृष्टि किंतु जीव रूप होकर के जीवक को धारण करके कहा न जीव द्वारेण स्वयं जीव बनना है तद सृष्टवा तदेवान प्रावश्यक स्वयं जीवत्व आना है उसमें पुनर्नाना विधान भावान निवृत्ति नाना प्रकार के हैं भोग्य पदार्थ एक नहीं है शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम पांच बोलते हैं कई हैं उसके हाँ, भोगने के लिए साधन कई प्रकार के हैं बाह्य आध्यात्मिक कई हैं भीतर विराग द्वेष सुख दुखा भी बहुत सारे पदार्थ कल्पना हो जाती है बाहर कई हैं अनंत अनंत जीव हैं उनके भोग्य पदार्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग तो यही करना है किंतु उनके साधन सबके भिन्न भिन्न है जैसे पशु का घास होता है मनुष्यों का दाल रोटी है भिन्न भिन्न खाद्य है सबका ये सारे विषयों का कल्पना करता है जीव रूप से <clears throat> यही है तद्वारेण पुनर्नाना विधान भावा निर्मदय कहा आगे कहते हैं क्यों ज्ञान स्मृति वैषम्य देखो पहले जीवों के जैसे जैसे अनुभव हुआ होगा जिन विषयों का अनुभव किया होगा उसी प्रकार का उसका स्मरण होगा उस मरण के आधार पर आगे करेगा जीव रूप ज्ञान स्मृति वैषम्य भिन्न भिन्न जीवों का विज्ञान भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न प्रकार के स्मरण है उसका जैसे सुबह हमें दाल रोटी खाई उसका अनुभव हुआ है स्वाद है तो उसका स्मरण आता है तो शाम के लिए हम तैयार हो जाते हैं दाल रोटी बनाने के लिए आगे क्रिया करने के लिए फिर उसका संस्कार बनेगा फिर क्रिया को शुरू कर देते हैं यही दो ही काम होता रहता है ठीक है ज्ञान स्मृति वैषम्यार ज्ञान और स्मरण अनुभव और स्मरण भिन्न भिन्न है विषम है प्रत्येक जीवों में भिन्न भिन्न है रुचि भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तत्कल्पेशु भावेशु उस जीव रूप से कल्पित कल्प्य पदार्थ जो भाव में विषय है कल्पना का विषय जो बना है कल्पेशु भावेशु जीवत्व कल्पित जो भाव पदार्थ है वैषम कोठी क्योंकि प्रत्येक जीवों के ज्ञान और स्मरण में भिन्न भिन्न है जैसा अनुभव किया होगा वैसे स्मरण होगा जैसा स्मरण होगा उस प्रकार करेगा काम ये स्थिति है जैसे कुमार घट बनाता है तो एकाएक नहीं पहले का संस्कार है उसके पास पहले घट बनाया हुआ था उसका संस्कार है उसके बल पर स्मरण हो जाता है स्मरण होने से फिर घट बनाने के लिए हाँ ये चाहिए मिट्टी आदि ढूंढता है फिर घट तैयार करता है इसी प्रकार यहाँ भी भिन्न भिन्न होने से कहा ज्ञान स्मृति वैषम्यात चार की टिप्पणी का वैलक्षण्यात प्रत्येक जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान है विषय भोगने के और भिन्न भिन्न प्रकार के स्मरण हो रहे हैं इसलिए सृष्टि नाना हो जाती है एक प्रकार में आए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों का ही ये भोग करना है सभी ने किंतु उनके साधन भिन्न भिन्न तरह से होता है ये नाना प्रकार के सृष्टि करता है ये कहा इसलिए भावेश वैषम से विषयों में भी विषमता है जीवों के ज्ञान स्मृति की विलक्षणता होने से विषय भी विलक्षण हो जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार हो जाते हैं एक कहा श्लोक व्यावर्तन प्रश्न उत्थापित इस कालिका के द्वारा व्यावर्तनीय शंका है क्या शंका है वो किस प्रकार से इसकी कल्पना होगी चलो सब मिथ्या मान लेते हैं किस प्रकार से शंका को पहले रखते हैं पूर्वादि की जो शंका होगी पहले रखते हैं क्या रखते हैं भाष्य ने कहा नाम भावा भावानाम इतर इतर निमित्त नैमित्तिकतया कल्पनायाम के मूलम ये प्रश्न है पूर्वादि का बाह्य शब्द स्पर्श रूप गंध आदि है बाहर अच्छा और आध्यात्मिक है सुख दुख आदि राग द्वेष आदि भीतर है दो प्रकार की कल्पना होनी है कुछ भीतर केवल मन में कल्पना होनी है कुछ इंद्रिय सहित होकर के कल्पना होनी है दो प्रकार के विषय हैं बाह्यानाम आध्यात्मिकानंद भावान बाह्य विषय और आध्यात्मिक विषय आध्यात्मिक सुख दुख आदि जो मन के भीतर होते हैं भावान इतर इतर निमित्त निमित्त कदया एक दूसरे निमित्त और नैमित्तिक बन जाते हैं एक दूसरे का निमित्त एक दूसरा बनता है एक दूसरे का एक दूसरा बन जाता है जागृत का संस्कार है स्वप्न में दिखाई पड़ेगा स्वप्न का संस्कार में जागृत में दिखाई पड़ता है बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थ एक दूसरे के लिए एक दूसरे निमित्त बन जाते हैं क्यों तो संस्कार चाहिए कल्पना करने के लिए तो यदि सर्पों का संस्कार न हो तो रज्जु में सर्ग की कल्पना नहीं हो सकती संस्कार है या तो सुन करके है या देख करके है कहीं ना कहीं संस्कार है वही कर सकता है तो पूर्वादि की शंका है बाह्यानाम नाम भावानाम दो पदा दो प्रकार के पदार्थ जो बोल रहे हैं बाह्य और आध्यात्मिक इनका इतर इतर निमित्त रंगितकतया एक दूसरे के लिए एक दूसरे निमित्त बनना एक दूसरे के लिए एक दूसरे नैमित्तिक बन जाना निमित्त हो गया कारण नैमित्तिक होना कार्य कार्य कारण भाव होना उसके संस्कार से ये होना इसके संस्कार से वो होना ये जो कल्पनायाम के मूलम ऐसी कल्पना करने में मूल क्या है किस कारण से कल्पना हो जाती है इसका कारण क्या है मूल क्या है ये प्रश्न है पूर्वादि का तो सिद्धांत कहते हैं उच्चते इसका मूल बताया जाता है जो कल्पना हो रही है बाह्य पदार्थ और आध्यात्म पर एक दूसरे के लिए निमित्त बनना एक दूसरे नैमित्तिक बनना इसमें मूल बताया जाता है क्या कहा जाता है जीवन हेतु फलात्मकम इसका मूल कारण है जीव जो दो प्रकार की कल्पना करने में बाह्य विषय और भीतर के विषय के कल्पना में मूल कारण होता है कारण क्या जीव है कैसा है जीव हेतु फलात्मकम जीवम जो आदि विशिष्ट होकर के हेतु बनता है जीव और भोक्तृत्व आदि विशिष्ट होकर के फल बनता है हेतु और फल दो रूप में है जीव कर्तृत्व विशिष्ट होकर के कार्य करेगा और भोक्तृत्व विशिष्ट होकर भोग करेगा हेतु फलात्मकम जीवन यही है कारण मूलम मूल यही है सिद्धांत ने कहा जो हेतु और फल स्वरूप है हेतु माने कर्तृत्व आदि धर्म विशिष्ट होकर के काम करता है और भोक्तृत्व होकर भोक्ता बन करके भोग करता है दोनों वही जीव है कर्ता भोक्ता हेतु फलात्मकम माने कार्य कारण भाव दिखाई पड़ता है जीव में कारण भी वही बनता है आगे कार्य भोक्ता भी वही बनता है कर्ता भोक्ता स्वरूप जो जीव है वही मूल कारण है उसके स्पष्टीकरण करते हैं देखो अहम करोमी ऐसा बोलता है जीव मैं कार्य करता हूं यह कर्तृत्व दिखाया और मम सुख दुखे मेरे में सुख दुख है सुख दुखे प्रथमा के दो वचन मेरे में सुख दुख है ऐसा बोलता है मैंने वो जो जो किया था उसका फल सुख दुख मेरे में भोक्ता बनता उसका मम सुख दुखे मेरे सुख दुख का समय में भोक्ता अहम करो भी समय में करता ये जीव का स्वरूप यही है अहम करो में मम सुख दुखे इतम लक्षणम जीवम यही है इस प्रकार का स्वरूप है जिस जीव का दो ही रूप होता है उसका क्या अहम करो भी और मम सुख दुखे क्योंकि जो भी कर्म करेगा उसका अंतिम परिणाम सुख या दुख मिलना होगा जो कर्ता बनेगा कोई भी व्यक्ति कर्ता बनता है उसका अंतिम परिणाम सुख या दुख अच्छा कर्म होगा तो सुख और पूरा कर्म होगा तो दुख यही है फल यही है तो जीव का स्वरूप यही है हेतु तो फलात्मकम कहा उसी का स्पष्टीकरण है अहम करोमी मम सुख दुखे इतम लक्षण मैं करता हूं ये जीव का एक स्वरूप और दूसरा मम सुख दुखे मेरे सुख दुख है मैं मैं सुख दुख वाला हूं ऐसा मानना ये कार्य हो जाता है मैंने करने का फल हो गया तो हेतु फलात्मक जीवम कारणम माने बाह्य पदार्थ आभ्यंतर पदार्थ दो प्रकार के पदार्थों की कल्पना में जीव कारण बनता है मूल कारण है जीव के कारण माने वो परमात्मा ही जीव रूप होकर के करता है तो यानी कि परमात्मा से भिन्न जीव नहीं है कहा कल्पना करता है कल्पना करने के लिए आधार चाहिए रस्सी न हो तो कोई व्यक्ति सर्प की कल्पना नहीं कर सकता अधिकरण होना चाहिए और सत्य होना चाहिए कल्पना कल्पित पदार्थ मिथ्या होता है किंतु उसके आधार जहां कल्पना की जाती है सत्य होता है रसी व्यावहारिक सत्य है तो सर्प की कल्पना हो सकती है बागी कुछ नहीं है जहां वहां कल्पना होगी कुछ न कुछ चाहिए आधार तो कहते हैं आधार दिखाते हैं अनेवम लक्षणे एवं शुद्धे आत्मने रज्वाम इव सर्प सर्पम कल्पयते प्रभु रज्वाम इव सर्प दृष्टांत है जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना की जाती है जब सर्प कल्पना करते समय रज्जु सत्य मानी जाती है अधिकरण है ठीक इस प्रकार अनेवम लक्षण है एवं शुद्ध जो इस प्रकार का स्वरूप नहीं जिसका किसका कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप नहीं जिसका एवं तो हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप जीव अनेवम लक्षण शुद्धे आत्मनि हाँ, इस प्रकार का जो लक्षण है कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप नहीं जिसका ऐसा जो शुद्ध आत्मा है ये सप्तमंत है ये चोरेवा एवं लगा हुआ है शुद्धे लक्षणे इस प्रकार का जो लक्षण है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप नहीं है ऐसा जो शुद्ध आत्मा है उस आत्मा में माने आत्मा का विशेषण अनिलोम लक्षण है शुद्ध ऐसा शुद्ध आत्मा में कल्पयते पूर्वम कहा कल्पना करता किसी जीव की जीवम कल्पयते पूर्वम कैसी कल्पना रज्जुआम उप सर्पम जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना होती है इसी प्रकार शुद्ध आत्मा में वो विशिष्ट आत्मा कल्पना करता है जीव की पहले जीव और जगत दो ही हैं पहले जीव की कल्पना इस प्रकार कर देता है विशिष्ट आत्मा माया विशिष्ट आत्मा कल्पना करता है शुद्ध आत्मा में जीवन ततः उसके पश्चात है और जीव जब कल्पना जीव हो गया उसको भोगने के साधन चाहिए जीव माने कर्तृत्व तो कुछ करना है उसने जो जीव होगा कुछ किए बिना रह नहीं सकता भोगे बिना भी रह नहीं सकता और उसके लिए चाहिए काम कार्य चाहिए फल चाहिए तथा उसके पश्चात जीव सृष्टि के पश्चात तादर्थ न उस भोक्ता जो जीव के शेष बना कर गए भोग्य बनाना है उसके लिए तादर्थ है उसी के लिए उसी जीव के माध्यम से ही क्रियाकारक फल भेदे न जो क्रियाकारक फल तीन प्रकार के जगत का स्वरूप होता है कुछ साधन से हम क्रिया करते हैं उसका परिणाम फल होता है क्रियाकारक फल कारक होगा क्रिया करने के लिए कर्म करने के लिए कारक चाहिए अधिष्ठान आदि कारक जो अधिष्ठान हो संप्रदान हो कर्ण हो अपादान जैसे जैसे होगा कर्ता होगा कर्म होगा कर्म होगा ये सब कारक होंगे और क्रिया कर्म ये कारकों के माध्यम से कोई कर्म निष्पन्न किया जाएगा क्रिया उसका परिणाम फल यही तीन रूप है ये कहा ये जगत का स्वरूप क्रिया कारक फल स्वरूप है इसकी सृष्टि करता है जीव के लिए क्योंकि जीव जब बना हुआ है तो उसको तो चाहिए कुछ करना है भोगना है तो एक तादर्थ है ना तथा उसके पश्चात जीव सृष्टि के पश्चात जीव कल्पना के पश्चात वास्तव में सृष्टि ने कल्पना है कल्पना के पश्चात उसी जीव के भोक्ता जीव के श्रेष्ठ रूप से अंग रूप से भोग्य रूप से क्रियाकारक फल दे देना क्रियाकारक फल किन रूप में जगत पाया जाता है जगत का स्वरूप यही है मैंने कारक होता है कर्म करेगा कर्तरादि कारक होंगे तो कोई कर्म निष्पन्न होगा और कर्म निष्पन्न होगा तो फल होगा ये तीन ही है क्रिया कार्य फल इस भेद से प्राणादि नाना विधान भावान प्राणादि जो आगे कहेंगे जितने भी चर्चा होगी क्या क्या मानते हैं लोग तो प्राण ही सत्य है और नहीं कई अनेक या तर्क देंगे आगे प्राणादेन नाना विधान नाना प्रकार के जगत की सृष्टि करता है प्राण आदि प्राण से लेकर के चीटी तक जो भी हो वृक्षादि तक खावर जंगम सबकी कल्पना करता है प्राणादीन द्वितिया प्राणादीन नाना विधान भावा नाना प्रकार के जो विषय हैं अनेक है पदार्थ एक नहीं भोगने के तरीका पांच है बात अलग है वो भी मुख्य भोग दो ही है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए हम विषय आर्जन करते हैं तो शब्द का भी भोग मुख्य परिणाम क्या होगा सुनने के बाद भी सुख या दुख दो पैसे से होगा वर्षा के लिए हम कितने कोमल बिस्तर आदि की तैयारी करते हैं उसका परिणाम क्या होगा सुख यही होगा तो भोग तो आखिर में सुख ही है सुख दुख अन्य तरह से साक्षात्कार होगा ये नया ऐसा बोलते हैं सुख दुख दो में से कोई एक का जो साक्षात्कार करना अनुभव करना इसी का नाम भोग होता है सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार भोग भोग शब्द का अर्थ ऐसा है कोई भी विषय आर्जन करे अंतिम परिणाम दो में से एक होगा माने हम उसको इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करेंगे उन विषयों को पांच इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करेंगे शब्द जिसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहा कोई भी विषय लाएंगे या तो सुनने के लिए होगा या देखने के लिए होगा या छूने के लिए होगा या सुनने के लिए होगा या चखने के लिए होगा यही तो होगा जो विषय हम लाएंगे कोई भी विषय होगा तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच में होकर के हमने जो भीतर किया उसका भी परिणाम क्या निकला सुख या दुख तो। कोई शब्द सुनकर के कष्ट होता है कोई शब्द सुनकर खुशी होती हर्ष होता है वही है भोग सबर का होता तो कहा तथा माने जीव सृष्टि के पश्चात तावत उसी जीव के शेष रूप से अंग रूप से उसके भोग्य रूप से जीव के भोग्य रूप से क्रियाकारक फल भेदना क्रियाकारक फल तीन प्रकार की सृष्टि तीन ही प्रकार की है उसमें देखने पर तीन स्वरूप मिलते हैं माने कारक स्वरूप क्रिया स्वरूप फल स्वरूप क्रिया कारक फलसु भेदेन प्राणादीन प्राणादीन नाना विधान भावान नाना प्रकार के पदार्थ जितने भी हैं इनका बाह्यान आध्यात्मिक आश्चर्य दो प्रकार के हैं कुछ तो भीतर होते हैं खाली मन ही मन के विषय बनते हैं और कोई इंद्रिय सहित होकर के विषय हो जाते हैं मन तो रहेगा किंतु तो इंद्रिय विशिष्ट होकर उसी पदार्थों की जानकारी है तो बाह्य और आध्यात्मिक दो प्रकार के पदार्थ हैं जैसे सुख दुख आदि आध्यात्मिक हो जाएंगे और समरस प्रसादी बाह्य हो जाएंगे ऐसे पदार्थ की कल्पना करता है वो माया विशिष्ट परमात्मा एक ये कल्पना करता है आगे तत्र कल्पनायाम को हेतु कहते हैं चलो जीव के कल्पना में तो स्वयं माया को हेतु बना दिया अब इस कल्पना में जो जगत सृष्टि की कल्पना में कारण क्या है उसमें भी कोई कारण होगा जीव सृष्टि के लिए तो माया होगी कारण माया विशिष्ट होकर के जीव जीव की सृष्टि करता है कहा था अब जगत की कल्पना में क्या कारण है क्या निमित्त क्यों बनाता है जगत क्या निमित्त है ये प्रश्न आया तत्र कल्पना है उस कल्पना में जगत की कल्पना में वो हेतु क्या कारण है उच्चते सिद्धांत कहते उच्चते उत्तर कहा जाता है योसौ स्वयं कल्पितो जीव सर्व कल्पना में अधिकृत उसमें स्वयं जीव ही कारण बन जाता है जो स्वयं कल्पित है जीव वही कारण बन जाता है जगत कल्पना के लिए क्यों उसको अपने अपने ढंग की व्यवस्था चाहिए अपने अपने ढंग की चाहिए सबकी व्यवस्था चाहिए चिड़िया के लिए घोसला ही चाहिए अपने घोसला ही बनाएगी मनुष्य के लिए गृह चाहिए पशुओं को अलग चाहिए मछली को जल चाहिए अपनी अपनी व्यवस्था है सबकी एक व्यवस्था नहीं है सबकी भोग तो वही होगा सभी को चौरासी लाख में जितने सुख दुख दो में से एक होना होगा किंतु भोगने के साधन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं मैंने आश्रय रहने का आश्रय भिन्न भिन्न प्रकार का है भोग्य जो खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार का है कोई वायु पी करके रहने वाला है कोई जल पी करके रहने वाला है कोई अन्नादि लेकर के रहने वाला है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव ये कहा तो ये जगत की कल्पना में जीव ही कारण बनेगा ये कहना चाहते हैं कि तो अपने ढंग की व्यवस्था करनी है उसमें यही कह रहे हैं यहाँ तत्र कल्पना में कोई हेतु माने जगत की कल्पना में क्या कारण बनेगा ये प्रश्न उठा तब कहते हैं यो सब स्वयं कल्पित जीव जो वह स्वयं कल्पित जीव है स्वयं माया विशिष्ट होकर के कल्पित किया हुआ जीव कल्पित जीव सर्व कल्पना अधिकृत सभी कल्पनाओं में वो ये माने ये संबद्ध हुआ है स्वामित्व संबंध है मालिक बनता है अपने लिए विषय बनाता है संबद्ध है वो अधिकारी है वो सभी कल्पना में अधिकारी जीव है स यथा विद्या जैसा उसको ज्ञान होगा क्योंकि जब बनाने लगेगा व्यक्ति तो जैसा ज्ञान होगा वैसे ख्याल आएगा जैसा ख्याल आएगा वैसे करने लग जाएगा इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था हो जाती है स यथा विद्या यथा विद्या यथा विद्या ऐसे स यथा विद्या जिस प्रकार की विद्या हो विज्ञान हो जिसके पास उसके लिए पूर्व संस्कार की आवश्यकता होगी पूर्व संस्कार है उसका ज्ञान है उस जैसा ज्ञान हुआ वैसे उसका स्मरण होगा यथा विद्या माने यादृशी विद्या विज्ञान अश्य जिस प्रकार का विज्ञान है जिसकी विद्या का था विज्ञान जैसे ज्ञान होगा जिसका जिस जीव का और यथा विद्या उसको यथा विद्या कहा तथा विधा एवं स्मृति उसी प्रकार की स्मरण होगा जैसे अनुभव किया वैसे स्मरण होगा स्मृति इति तस्य उस जीव को वैसे स्मरण हो जाएगा तब तथा स्मृति भगवती इति उसी प्रकार का स्मृति हो जाता है स जीव जीवा उसी प्रकार स्मरण वाला होगा अतो हेतु कल्पना विज्ञान फल विज्ञान और यहाँ क्या परिस्थिति आ जाती है कहते पहले हेतु कल्पना का विज्ञान है कारण का विज्ञान है कारण कल्पना की विज्ञान है उसको ऐसा करने पर ऐसा होगा उसका कारण का ज्ञान है भोजन बनाएंगे तो तृप्ति होगी खाने मिलेगा तो भोजन बनाने लग जाता है क्रिया करने लग जाता है क्या तो अतः हेतु कल्पना विज्ञानात पहले हेतु की कल्पना कारण की कल्पना करेगा विज्ञान होने से फल विज्ञानम फिर फल का विज्ञान होगा विषय का ज्ञान होगा तृप्ति जैसे भोजन पकाएंगे तो तृप्ति होगी फल का विज्ञान होगा उसको तो हेतु फल प्रति फिर कार्य का दोनों का स्मरण आ जाएगा ऐसा करने से ऐसा होता दोनों का ख्याल आएगा उसको भोजन बनाने से तृप्ति होती है ख्याल आ जाएगा दोनों का स्मृति ततः तद विज्ञान उसके पश्चात उसका होगा कर्तव्यता का विज्ञान करना चाहिए प्रातकाल भोजन किया था हाँ, अब वो ऐसा ऐसा करने से भोजन तृप्ति मिली थी ख्याल आ जाएगा फिर उसके बाद कर्तव्य तो ज्ञान आ जाता सायकाल के फिर तैयार हो जाता है ये कर्म करता रहता है फल भोगता रहता है खत्म होता है कर्म करता है यही है पंचदशी में कहा जीवों की चर्चा में विद्यारण समन कहा कुरुते कर्म भोगा या कर्म कर्तुम से भुंजते नद्या तीर नद्या तीर इवावर्त नद्या की तो इवावर्त आवर्तांतरमाशु थे ऐसा कहा है ये जो जीव जो है ना कर्म करता है किसके लिए भोग भोगने के लिए भोग क्यों करता है कर्म करने के लिए एक मजदूर को पूछा जाए तुम क्यों खाते हो क्या बोलेगा वो खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे एक उत्तर होगा क्यों काम करते हो पूछे तो बोलेगा काम नहीं करे तो खाएंगे क्या तो ये जीव भी ऐसे ही है सब कर्म करते हैं यहाँ थोड़े दिन जाकर के भोग करेंगे अपने फल भोगेंगे फिर आएंगे कर्म करने के लिए क्यों खाने का स्वाद मिला हुआ है उसे भोगने का स्वाद मिला हुआ है तो ऐसा ही है तत्व हेतु फल मृति जब हेतु कल्पना कर कल्पना कर विज्ञान हो गया फल विज्ञान हो जाएगा इसका ये फल मिलेगा ऐसा ज्ञान हो जाता है ऐसा ज्ञान होने पर दोनों के स्मरण आएगा ऐसा करने से ऐसा हुआ था पहले ऐसा ख्याल आएगा उसको तद विज्ञान उसके बाद कर्तव्यता ज्ञान हो जाएगा उसको ये कर्तव्य है क्यों पहले ऐसा करने से ऐसा हुआ था फल मिला तो अभी भी कर्तव्य है उसका विज्ञान होगा तदर्थ क्रियाकार तत्फल भेद विज्ञान उसके बाद तृप्ति आदि जो फल होना है फल तदर्थ फल के लिए क्रियाकारक जितने भी हैं और फल भेद विज्ञान ये ऐसा कर ये क्रिया फल भिन्न भिन्न विज्ञान हो जाएगा ये कारक होगा इसके लिए और ये क्रिया इस प्रकार का कर्म होगा इस प्रकार का फल होगा ऐसा विज्ञान हो जाता है उसको तेभ्य ये क्रियाकारक फल विज्ञान के कारण से क्या होता है तत्स्मृति फिर उसके स्मरण आएगा तत्स्मृत से पुनः तत् विज्ञान फिर उसके बाद स्मरण होना फिर विज्ञान होना करना फिर संस्कार बनना संस्कार से स्मरण होना फिर करना ये चलता रहेगा इतम बाह्य एवं आध्यात्मिक आश्चर्य दो प्रकार के जो विषय हैं बाह्य और आध्यात्मिक इतर इतर निमित्त नैमित्तिक भाव है ना अनेकधा कल्पना एक दूसरे निमित्त और नैमित्तिक बन जाते हैं भीतर के संस्कार बाहर के लिए हो जाते हैं बाहर के संस्कार भीतर के लिए निमित्त बन जाते हैं तो इस प्रकार से कल्पना करता है परमात्मा ने कहा टीका से देखें पदार्थ साध्य साधन तया स्थित बाह्य दो प्रकार से स्थित जो पदार्थ हैं वो बाह्य पदार्थ कहलाते हैं साध्य साधन भाव जैसे स्वर्ग आदि है साधन है याग आदि और साध्य हो जाएगा स्वर्ग आदि इस भाव से रहने वाले पदार्थ मान कार्य कारण भाव में जो दिखाई पड़ रहे हैं ये बाह्य पदार्थ है जहां जहां भी दिखाई पड़ता है जैसे भोजन हो गया कारण और तृप्ति होगी फल तृप्ति फल होगी इत्यादि पदार्थ सभी पदार्थ क्या है साध्य साधन होता है एक साध्य रूप में एक साधन रूप में कार्यकारण भाव में है पदार्थ सब कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है साधनतया स्थित बाह्य ये बाह्य पदार्थ ऐसे होते हैं ये बाह्य पदार्थ ऐसे कार्यकारण भाव में दिखाई पड़ते हैं साधन और साध्य रूप में दिखाई पड़ते हैं सुखम दुखम ज्ञानम रागस्य इतवाद आध्यात्मिक ये भीतर के पदार्थ हैं आध्यात्मिक पदार्थ हैं सुख है दुख है ज्ञान है राग है द्वेष है इत्यादि भीतर के हैं आध्यात्मिक पदार्थ हैं दो प्रकार के पदार्थ हैं बाह्यान आध्यात्मिक आश्रय यथा विद्य तथा स्मृति इत्यादि है दो प्रकार के पदार्थ हो गए तेषाम परस्परम निमित्त नैमित्तिकता अस्थित ये दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिकता है कर्म करने से सुख हुआ है फिर उसके ख्याल आएगा फिर सुख बन जाएगा कर्म करने के लिए निमित्त बन जाएगा निमित्त नहीं दिखता है फिर कर्म करेगा फिर सुख के लिए फिर सुख होगा फिर वो सुख निमित्त बन जाएगा कर्म के लिए प्रातःकाल भोजन किया अच्छा लगा तो सायंकाल के लिए कर्म करने के तैयार हो जाएगा ये दो प्रकार के पदार्थ हैं सुख दुख ज्ञान राग आदि ये हैं आपके आध्यात्मिक पदार्थ का तेषा ये दोनों प्रकार के बाह्य और आध्यात्मिक दोनों पदार्थों में परस्पर एक दूसरे में आध्यात्मिक हो जाएंगे बाह्य के लिए निमित्त है बाह्य हो जाएंगे आध्यात्मिक के लिए निमित्त है परस्पर निमित्त निमित्तकता अस्थि कहा बाह्यान कृत्य आध्यात्मिका बनते बाह्य बाह्य पदार्थों को निमित्त बना करके आध्यात्मिक होते हैं सुख दुख कब होगा कुछ कर्मादि करेगा फल भोगेगा तब सुख दुख होगा बाह्य को निमित्त करके आध्यात्मिक हो जाते हैं राग मन सुख दुखादि हो जाते हैं तान भी हैं उन सुख दुखादि के निमित्त करके इतरे जाएंगे बाह्य पैदा हो जाते हैं फिर कर्म करना है ना तैयार करना है बाह्य पदार्थ जितने भी विषय है कर्म के द्वारा तैयार करना पड़ता है स्वर्ग आदि को बनाता है यजमान अपने कर्म से तैयार करता है एकाएक स्वर्ग नहीं मिलने वाला उसको करना पड़ेगा यही है तो उसके लिए भीतर वाले जो सुख हुआ था पहले भी स्वर्ग गया हुआ है उसका भीतर में सुख है उस सुख का ख्याल करके फिर कर्म करता है इत्यादि तद एवं इतर इतर निमित्ततया एक दूसरे में एक दूसरे निमित्त बने हुए हैं नैमित्त तो दोनों हैं निमित्त भी है नैमित्त भी है कार्यकाल महात्म है उसके लिए वो हेतु बन जाता है उसके लिए हेतु बन जाता है बाह्य पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ मित्रया च कल्पनाया मूलम वक्तव्यम ये पूर्वाधिक कारण इसके लिए भी कारण बताना चाहिए जैसे जीव की कल्पना में आपने कारण बता दिया था कि माया विशिष्ट होकर के स्वयं जीव की कल्पना करता है ठीक इस प्रकार इसलिए कहना चाहिए निर्मूल कल्पना है अति मतलब प्रसंगात इत्यर्थ पूर्वादि की संज्ञा है तो निर्मूल कल्पना में अतिव्याप्ति होगी अति प्रसंग होगा क्या अति प्रसंग होगा टिप्पणी का पांच में ख पुष्पाद खपुष्प आदि में निर्मूल कल्पना है आकाश में कुसुम की कल्पना कोई करता नहीं है हाँ रस्सी में सर्प की कल्पना तो करे क्यों आधार है मूल है वहां कल्पना के लिए मूल चाहिए किंतु तो आकाश में पुष्प की कल्पना नहीं करता क्यों आधार नहीं है निर्मूल कल्पना में प्रमाण नहीं होता कल्पना करने के लिए मूल चाहिए अधिकरण चाहिए किस की, क्या मूल है उसमें निमित्त क्या है मूल चाहिए एक आधार निर्मूल कल्पनायाम अति प्रसंगात निर्मूल कल्पना में अत्याप्ति होगी कहा आकाश कुसुम आदि में अतिव्याप्ति होगी क्यों वो निर्मूल कल्पना है आकाश में जो फूल की पुष्प की जो कल्पना करते हैं मूल नहीं आकाश ही नहीं है कैसे पुष्प होना आकाश में पुष्प होना संभव नहीं हाँ, रस्सी में सर्प हो सकता है वह असंभव है ऐसी कल्पना नहीं होती यही है कहा पुष्पादो अति प्रसंगात कहा श्लोकाक्षर योजना पर सिद्धांत उसका उत्तर देते हैं माने जगत के कल्पना में मूल कारण क्या है माने जीव की कल्पना में तो माया विशेष स्वयं परमात्मा कारण बना हुआ है किंतु अब बाह्य और आध्यात्मिक दो प्रकार के जो जगत हैं तो इन जगत के कल्पना में मूल क्या है उसके बाद कोई जीव भाव में आकर के बनाता है मूल जीव हो जाता है ये कहना चाह रहे हैं उच्चते ग्रंथ से कहा तो मूल कारण क्या है तो कहा जीवम हेतु फलात्मकम भाष्य ने कहा जीव है इसका कारण जगत बनाने के लिए निमित्त बनता है जीव क्योंकि दो रूप में होता है जीव कार्य कारण भाव में हेतु और फल दो रूप है मान कर्ता कर्तृत्व विशिष्ट होकर के हेतु बनता है कुछ काम करेगा और भोक्तृत्व विशिष्ट होकर भोगेगा हेतु और फल कर्तृत्व बना हेतु है भोक्तृत्व बना फल है ये दो स्वरूप है जीव का जीवम हेतु फलात्मकम एक, एक नंबर की टिप्पणी है हेतु फलात्मकम इसको इस कर्तृत्व अध्यास अध्यास अधिष्ठान हेतु कहते हैं कर्तृत्व के अध्यास के अधिष्ठान होता हुआ वो होता है हेतु बन जाता है जब कर्तृत्व का अध्यास करेगा अपने में उस काल में जीव हेतु हो जाता है जगत रचना का हेतु हो जाता है और भोक्तृत्व अध्यास अधिष्ठान फलम और भोक्तृत्व का अध्ययन जब करेगा उस काल में फल हो जाता है हेतु तो फलात्मकम फलात्मा एवं इत्यर्थ इस काल में फलात्मा हो जाता है फलस्वरूप हो जाता है जीव माने जब कर्तृत्व का अभ्यास करता है तो उस काल में हेतु बन जाता है किस जगत रचना का हेतु बन जाता है और भोक्तृत्व का अभ्यास करेगा तो परमात्मा अपने वही जीवत्व होना है उस काल में ये फल रूप बन जाता है यही है कहा जीव का यही स्वरूप है कहा हेतु फलात्मक का ठीक आप देगा हेतु फलात्मक यदि उत्तम जनती जो हेतु फलात्मक जीव का स्वरूप बताया उसके स्पष्टीकरण करते हैं क्या स्पष्टीकरण कहा अहम करो भी मम सुख दुखे इतम लक्षण वाष्य में कहा दो बातें बता दी मैं करता हूं कहता है ये हो गया कर्तृत्व का अध्यास और मम सुख दुखे सुख दुख मेरे में है ऐसा बोलता है ये भोक्तृत्व का अध्यास मैं सुख दुख का भोगता हूं ये यही है जीव यही कारण है जगत रचना में यही कारण है कर्तृत्व मैंने वह आत्मा अपने में कर्तृत्व का अभ्यास भोक्तृत्व का अभ्यास करता है तो जगत रचना शुरू कर कल्पना शुरू कर देता है यही कारण ठीक है आगे हेतु फल भाव हेतु फल भाव विकलम परिशुद्धम आत्मरूपम जीव कल्पना अधिष्ठान दर्शेगा देखो जहां कल्पना करते हैं एक तो कल्पना कल्पित वस्तु दिखाई पड़ेंगे वहां और एक होगा अधिष्ठान एक होगा कल्पक तीन व्यक्ति चाहिए देवदत्त कल्पना करता है रस्सी में रस्सी कल्पना का अधिष्ठान है कल्पना होती है सर्प की और कल्पक है देवदत्त तीन तीन होते हैं दिखते तो यहाँ पर अधिष्ठान क्या होगा वो कल्पना में जगत कल्पना के अधिष्ठान क्या होगा शंका है उसके उत्तर दे रहे हैं हेतु फल विकलम वो परमात्मा हेतु फल भाव विकलम वो हेतुत्व तो भी नहीं परमात्मा में फलत्व तो भी नहीं शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व तो भी नहीं है भोक्तृत्व भी नहीं हेतु फल भाव विकलम भाव मैंने तो तस्य भाव तो तलो तो बोलो भाव बोलो एक चीज आई है एक ही है हेतु फल हेतुत्व फलत्व रहित जिसमें हेतुत्व भी नहीं है फलत्व भी नहीं है विकलम रहितम परिशुद्धम आत्मरूपम जो परिशुद्ध आत्मरूप है निर्विशेष स्वरूप आत्मा है स्वरूप है जीव कल्पना अधिष्ठान कर सकते जीव कल्पना के अधिष्ठान यही है जीव जब कल्पना करेगा शुद्ध में करेगा शुद्ध आत्मा में कल्पना करेगा जगत की कल्पना करेगा कल्पक हो जाएगा जीव माने कोई जो विशिष्ट आत्मा जीव रूप में हुआ है वो कल्पक होगा और जगत कल्पना है और अधिष्ठान शुद्ध है दर्शन थी अनेवम लक्षण भाष्य में कहा अनेवम लक्षण शुद्धे आत्मनि रज्जुआमी को सर्पम कल्पयते पूर्व कहा जो एवं लक्षण नहीं अनेवम लक्षण है मैंने अहम करो में भी नहीं बोलता जो और मम सुख दुखे भी नहीं बोलता है ये तो फलात्मक नहीं है जो इस प्रकार की शुद्ध आत्मा है उसमें पूर्वम कल्पित पूर्व आत्मा में जगत की कल्पना कर देता है जीव की कल्पना करता है सर्पम रज्वाम एवं सर्पम जैसे रज्जु में सर्व की कल्पना उसी प्रकार करता है ये कहा ये जीव की कल्पना पहले ये कहा ठीक है आरोप से अधिष्ठानापेक्षा अस्थित दृष्टान कहते हैं कल्पना करने के लिए अधिष्ठान की क्या आवश्यकता है कुछ भी बोल दे कहते हैं नहीं जहां आरोप करना है वहां अधिष्ठान की आवश्यकता है ये दृष्टांत से समझाते हैं कहा आरोप माने जीवत्व आरोप करना है जीव की आरोप करना है तो उसके लिए अधिष्ठान चाहे कहाँ करेगा माया विशिष्ट जो होगा वो कल्पना करेगा ईश्वर कल्पना करेगा जीव की किंतु कहाँ कल्पना करेगा उसके लिए अधिष्ठान चाहिए आरोप के लिए दृष्टान्त दिया रज्जुआम सर्पम जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना होती बिना रज्जु में सर्प की कल्पना नहीं होती उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में जीवत्व की कल्पना करता है ईश्वर माया विशिष्ट ये कहा अच्छा ठीक है द्वितीय तृतीय पादो विभजित आदि द्वितीय पाद है ततो भावान पृथक विधान और तृतीय है बाह्यान सही शैव ये दोनों का संबंध है इनकी व्याख्या करते हैं कहा विभाग करते हैं ततः कहा तब जब जीव कल्पना हो गई जीव के लिए बहुत चाहिए आप बाह्य पदार्थ आभ्यंतर उसको राग द्वेष आदि भी चाहिए सुख दुख आदि भी चाहिए बाह्य विषय भी चाहिए तभी तो राग द्वेष आदि कर पाएगा सुख दुख आदि का अनुभव कर पाएगा सुख दुख आदि निमित्त नहीं बना अनुभव नहीं है तो बाह्य विषय वो नहीं करेगा अनुभव होना पड़ेगा तभी आगे बाह्य विषय एक दूसरे के लिए मित्र बनते हैं ये पदार्थ का ततः राशन का तथा तादर्थ है ना उसको भोक्ता जीव है ना उसी के शेष रूप से अंग रूप से माने वो तो स्वामी होगा उसके संबद्ध बनाते हैं जगत को कहा ततः तादर्थ है ना क्रियाकारक फल भेद है ना क्रियाकारक फल भेद ये तीन रूप में जगत दिखाई पड़ता है कारक स्वरूप क्रिया स्वरूप फल स्वरूप कुछ कर, करना है तो साधन चाहिए जो साधन है हमारे पास में अधिकरण है करण है संप्रदान है और माने कर्म है करता है ये कारक बनेंगे और कर्म जो कुछ उसके द्वारा जो कुछ किया जाए वो कर्म हो गया और उसका परिणाम होगा फल हो गया तीन के रूप है जगत का क्रिया कारक फल भेद प्राणाधीन जो प्राणादि है नाना विधान एक ही नहीं प्राण से लेकर के अनेक प्रकार के हैं ये जगत भावान नाना प्रकार के पदार्थ हैं बाह्यान आध्यात्मिक से कल्पाए थे कोई ईश्वर ऐसे कल्पना करता है जीव को उद्देश्य करके जगत की कल्पना करता है ये कहा ठीक है ततः का अर्थ करते हैं ततः न इत्यादि न प्रथम परिकल्पित उस जीव के लिए जो प्रथम परिकल्पित जो जीव है पहला कल्पना जीव की की थी उसी का भोक्तुर जीव से शेषत्व तादर्थ में बात तो पहला कल्पित जो जीव है वो जो भोगता है उसके अंग रूप से यह है अंगी ये शेषी है वो शेष है ये स्वामी है तो इस रूप से उनकी जगत की कल्पना करता है कहा आगे ठीक है यद्यपि जीव सर्वकल्पनाया मूलभूत हेतु यद्यपि जीव जो है सारी कल्पना में मूल कारण हेतु ये जीव ही है सारी कल्पना में मूल कारण जीव होता है हेतु तथापि तस्य कल्पना विशेष हो विशेष हेतु व्यतिरिक्त अनुसंभवती फिर भी उस जीव में जो कल्पना विशेष हो जानी है यद्यपि सभी कल्पनाओं में कारण जीव ही है फिर भी कल्पना विशेष जो होता है भिन्न भिन्न कल्पना होती है एक, एक जैसी कल्पना सबकी नहीं है जीवों की भिन्न भिन्न कल्पना है तो तस्य मान से कल्पना विशेष जो कल्पना विशेष है विशेष हेतु व्यतिरिक्त उसके लिए भी विशेष कुछ बताना पड़ेगा न संभव थी विशेष हेतु के बिना वो संभव नहीं हुई कल्पना विशेष इसलिए संकत कहा तत्र इत्यादि का तत्र कल्पना में कोई हेतु ये भिन्न भिन्न प्रकार के जगत हैं उसकी कल्पना में कारण क्या है ये प्रश्न हुआ तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देंगे चतुर्थ पाद है ना उत्तर माह चतुर्थ पाद क्या है यथा विद्या तथा स्मृति कारिका में यही है जैसा विज्ञान उसका रहा होगा और जैसे स्मरण पहले जैसे अनुभव किया होगा और जैसा स्मरण होता होगा उसी प्रकार आगे फिर कर्म करेगा फिर उसी प्रकार फल भोगेगा इसलिए व्यवस्था बन जाती है चौरासी लाख होने की जीवों की अलग अलग व्यवस्था सबकी बन जाती है क्योंकि अभी हम मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य उचित व्यवहार कर रहे हैं वो संस्कार जगा हुआ है जो पक्षी शरीर में पहुंचे पहुंचते हैं पहुंचे कई बार उसमें घोसला ढूंढते थे हम ही वहां घोसला ढूंढते थे वो संस्कार जल जाता है जब हम मत्स्य शरीर में पहुंचेंगे कभी अपने कर्म के आधार पर तो तैरना नहीं सिखाना पड़ेगा हमें अपने में तैरने लग जाए अभी जाएंगे तो डूब जाएंगे वो संस्कार जग जाता है पहले भी बना हुआ है अभी जैसे दाल रोटी ढूंढ के खाते हैं क्यों पहले भी कभी मनुष्य बना था किसी समय में अनादिकाल से हम चल रहे हैं तो उस समय में दाल रोटी खाया था उसका संस्कार है अनुभव किया था उसका संस्कार है इसलिए आज भी कोई कार्य करते हैं ये जो जीव जो है पुनर्जन्म नहीं है बात है पुनर्जन्म है कई जन्म ले रहा है ऐसी स्थिति है ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है मैं देखिए उच्चते ग्रंथ से ये भाष्य में कहा था यो सब स्वयं कल्पित हो जीव सर्वकल्पना अधिकृत क्यों स्वयं कल्पित जीव है सारे कल्पना में अधिकारी है जो जीव स यथा विद्या जैसे विद्या उसका अनुभव जैसे किया होगा पहले उसने यादृशी विद्या विज्ञान वैसे विद्या मैंने विज्ञान जिस प्रकार का विज्ञान है यथा विद्या तथा विधा एवं स्मृति उसी प्रकार की स्मरण होना है जैसा अनुभव हुआ वैसे स्मरण होगा तस्य उस जीव का तथा स्मृति बहुत ही साहित्य था उसके वैसी प्रकार की स्मृति होगी इत्यादि क्या फिर उस ऐसा स्मरण होने पर कर्म करेगा इत्यादि ठीक है कल्पितो विशिष्ट रूपेण इतिशेष जो स्वयं कल्पित जीव का भाष्यकार ने माने विशिष्ट रूप से कल्पित है वो अज्ञान विशिष्ट है अधिकृता माने स्वामित्व न संबद्ध वो स्वामी बना हुआ है जी विषयों का मालिक होता है वो अपने को मालिक समझता है विषयों का मालिक समझता है स्वामी स्वामित्व भाव से संबंधित है विषयों के साथ ऐसा संबद्ध है कहा इति शब्द श्लोकाक्षर योजना समाप्ति द्योतनाथ आगे इति दिया भाष्य में ना तथा स्मृति भवती स इति भाष्य में जो इति शब्द है कारिका के शब्दावली का व्याख्या हो गई ये दिखाएंगे इति शब्द श्लोकाक्षर या अक्षर करते शब्दावली कारिका के जो शब्दावली है उसके समाप्ति का द्योतक है माने यहां पर और कारिका के एक एक शब्दों का अर्थ हो गया ये कहा अच्छा प्रकृत कल्पना में वो प्रकृत यही कल्पना जीव की जो कल्पना की विस्तार करते हैं जीव जो कल्पना करता है उसके विस्तार करते हैं भाष्य में क्या विस्तार किया अतो हेतु कल्पना विज्ञान फल विज्ञान तथो हेतु फल स्मृति इत्यादि राष्ट्र में दिखाया उसके टीका में कहते हैं देखो कैसे है सती अन्नपान आदि उपयोगी तृप्त्यादि होती है अन्नपान आदि करेंगे जल मान भोजन करेंगे जल पिएंगे तो क्या फल होगा तृप्ति होगी तृप्ति होगी सती अन्नपान आदि उपयोगी सती अन्नपान आदि को उपयोग करने पर तृप्ति आदि होती तृप्ति आदि फल होगी या तृप्ति अतृप्ति जो में एक फल होगा सुख दुख दो में से कोई योग होगा हाँ। कड़वी दवाई खिलाएंगे तो तृप्ति नहीं होगी भूखे हाँ। को भोजन देने पर तृप्ति होगी ऐसा है अंतिम परिणाम सुख या दुख होना है उसको अन्नपान आदि उपयोगी सती अन्नपान आदि का उपयोग होने पर भोजन जल भोजन आदि का उपयोग होने पर तृप्ति आदि तृप्ति आदि देखा है तृप्ति अतृप्ति दो में से एक परिणाम होगा वहां देखा है असती न भवती अगर अन्नपान आदि नहीं है तो तृप्ति नहीं होगी असती न होने पर नहीं होता है यदि अन्वय व्यतिरेक रूप न्याय आदि युक्ति है अन्वय व्यतिरेक लगे तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तो है तद अभाव भोजनादि सत्व तृप्ति सत्व भोजनादि अभाव है तृप्ति अभाव अन्वय व्यतिरेक है यह अन्वय व्यतिरिक न्याय आदि युक्ति है अन्वय व्यतिरेक युक्ति तत्सत्व तत्सत्तम अन्वय तद अभाव तद अभाव व्यतिरेक अच्छा न्याय भोजनादिगम हेतु इससे क्या होगा जैसे दंड सत्व घट सत्वम दंडाभाव है घटाभाव यह अन्य व्यतिरिक लगता है तो क्या होगा घटम प्रति दंड कारण ऐसा निश्चित हो जाता है घट के प्रति दंड कारण है क्यों दंड होने पर घट बनेगा दंड नहीं तो घट नहीं बनेगा हाँ, दंड सत्व घट सत्वम दंडाभाव है घटाभाव यह अन्य व्यतिरिक इससे क्या सिद्ध कार्य का अनुभाव सिद्ध हो जाता है दंड घट का कारण है ठीक इसी प्रकार यहां भी है भोजनादि सत्य तृप्ति सत्व भोजनादि अभाव तृप्ति अभाव ये कहा तो इसलिए क्या हेतु हो जाएगा कारण हो जाएगा भोजनादि किसके कारण तृप्ति का कारण हेतु हो यदि कल्पना विज्ञान उत्पत्ति इस प्रकार कल्पना के विज्ञान पैदा हो जाएगा मैं अन्य वितरक लगा करके हेतु की कल्पना का ज्ञान पैदा हो जाएगा ये हेतु है तृप्ति का कारण यह है ऐसा विज्ञान हो जाएगा उसको अब तथा उसके बाद कृप्याधिकम फलम जो भोजन कर लिया उसने भोजन का ज्ञान हो गया तो भोजन कर लिया तो क्या हो जाएगा फल हो जाएगा तृप्ति आदि तृप्ति अतृप्ति जैसा हो जैसा भोजन रहा हो खाद्य पदार्थ ज्यादा विधि फल विधि कल्पना विज्ञान फिर फल कल्पना की विज्ञान हो जाएगा उसको तृप्ति विज्ञान का होगा जाए थे फल विज्ञान कल्पना पैदा हो जाएगा कारण विज्ञान होगा तो कार्य विज्ञान हो जाएगा तो अब पहले दिन का हो गया तब तो अपरेद्यु और दूसरे दिन फिर शुरू करेगा वो अपरेद्यु दूसरे दिन उगतयोर उभयोर हेतु फलयो स्मृति उद्भव थी दूसरे दिन उन दोनों का स्मरण होगा ऐसा किया था तो ऐसा फल मिला था भोजन बनाया था थोड़ा स्वाद मिला था तृप्ति मिली थी शिवलाल की निवृत्ति हो गई थी स्मरण आया कार्यकाल दोनों का स्मरण आया अपरेद्यु दूसरे दिन उभयोर अपनी हेतु फलयो दोनों के दोनों माने हेतु है भोजन और फल है तृप्ति दोनों का स्मृति रूप भगवती स्मरण याद हो जाता है और स्मरण उद्भव होगा उत्पन्न होगा ततस्थ फल साधन समान जाती है कर्तव्यता विज्ञान उसके बाद जैसे साधन और फल था कल का वैसे उसी प्रकार का उसको कर्तव्यता आ जाएगा ऐसा करने से आज भी ऐसा ही होगा जैसा कल हुआ था तथा अच्छा फल साधना फल है वहां तृप्ति साधन है भोजन आदि हर कार्य में फल और साधन दो होते हैं समान जाती है जैसी जिस प्रकार का हुआ वैसी प्रकार का आज भी कर्तव्यता विज्ञान कल जिस प्रकार भोजन आदि बना करके तृप्ति पैदा किया उसी प्रकार आज भी उसको विज्ञान हो जाएगा दूसरे दिन ततश्च उसके पश्चात अभिलषित तृप्ति आदि फलार्थत्व जो चाहता क्या है वो तृप्ति चाहता है इसलिए भोजन बनाता नहीं भोजन कोई नहीं बनाता अगर पेट भरा हुआ हो तो कोई भोजन बनाएगा नहीं अभिलषित पदार्थ इष्ट है उसके लिए कारण साधन में तैयार होता है क्योंकि फलेच्छा जो होती है कारण इच्छा के साधन इच्छा की जननी होती है फलेच्छा साधन इच्छा की जननी है अगर फल की इच्छा होना हो तो साधन की इच्छा नहीं होगी भोजन बनाने की वैसे इच्छा नहीं होती है जिसका पेट भरा है करेगा किंतु तृप्ति की इच्छा है तब भोजन बनाने की इच्छा होती है जो फलेच्छा होती है फल की इच्छा वो तो साधन की इच्छा भी जो स्वर्ग चाहता है उसकी इच्छा होती है एक एक करने की फलेच्छा है स्वर्ग की इच्छा है तो एक करने की इच्छा करता है जिसके स्वर्ग की इच्छा नहीं है फलेच्छा नहीं है तो एक करने की इच्छा भी नहीं करेगा फलेच्छा जो होती है वह साधन इच्छा साधन इच्छा की जननी है तो यहां भी ऐसा ही है ततस्य माने दूसरे दिन जो स्मरण हो गया विज्ञान हो गया यह साधन है तो साध्य है कल ऐसा किया था तो तृप्ति मिला मिली थी तो आज भी ततः उसके पश्चात अभिलषित तृप्ति आदि जो इष्ट है उसको ऐसा तृप्त है इष्ट है जो तृप्ति आदि फलार्थ फल के लिए पाक आदि क्रिया दूसरे दिन फिर पाक आदि बनाने लग जाए भोजन बनाने शुरू कर देगा यही होता है तत्कारकम और वो पाक आदि क्रिया करने के लिए साधन चाहिए ऐसे पाक नहीं बनेगा भोजन नहीं बनेगा हाँ चूल्हा चाहिए चौका चाहिए न जाने कितने सामग्री चाहिए तंडुल आदि चाहिए पानी चाहिए सब कारक है वो सब तत्कारकम वो भोजन के जो साधन है भोजन बनाने के साधन उसकी इच्छा भी हो जाएगी वो विज्ञान होगा आदि क्रिया तत्कारकम तंडुल आदि उस क्रिया के कारक होंगे साधन होंगे माने भोजन जो पकाना क्रिया पाक क्रिया करनी हो तो तंडुल आदि चाहिए चावल आदि चाहिए तभी पाप होगा और तत्फलात् नहीं उसके फल से निष्पत्ति आदि नहीं विशेष विज्ञान होंगे उसके परिणाम से होने वाला जो है तृप्ति आदि विज्ञान भी हो जाएगा उसको यही सब करने पर तृप्ति होगी ज्ञान हो जाएगा ये कहा भवन ये सारे हो जाते हैं तथो हेतुवादि स्मृति फिर फिर हो जाएगा फिर भोजन की तृप्ति हो गई फिर आगे हेतु आदि का साधन आदि की फिर इछाला आएगा ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था कहा टिप्पणी तीन नंबर की विशेष विज्ञानानी माने तत्काल आदि विषयाणी तत्काल उस काल को विषय करने वाले विशेष विज्ञान पैदा हो गया इस काल में भोजन बनाना से ऐसा हुआ था इत्यादि माने भूखा आदमी भोजन बना ले तैयार होगा वो तो दूसरे आदमी नहीं होगा वो काल भी काल भी कारण है वहां तत्व हेतु आदि फिर साध्य साधन आदि की स्मृति होगी तथा तथा अनुष्ठान फिर क्रिया करेगा उसके लिए फिर उसके लिए कारक इकट्ठा करेगा क्रिया करने के लिए कर्म करने के लिए फिर साधन चाहिए उसको जो सा, जो जैसा कर्म करना वैसा साधन फिर जोड़ेगा वो फिर कर्म करेगा फिर फल भोगेगा फिर फिर याद आ जाएगा उसको यही चलता रहता है तथा सफलम जब अनुष्ठान कर दिया तो फल भी मिलेगा उसको सुख दुख दो भी मिलना मिलेगा ही इति अनैन क्रमेण मिथो हेतु हेतुमतया कल्पना होती इसलिए क्या होगा साध्य साधन भाव में ये एक दूसरे हेतु और मत कार्य का भाव हो जाता है हेतु हेतु मत माने कार्य कार्यकाल भाव की कल्पना हो जाती है प्रकृताम कल्पना उपसंहार की जो कल्पना थी उसको उपसंहार करते हैं एवं इत्यादि भाष्य में कहा एवं बाह्यान आध्यात्मिकाश इतर इतर निमित्त निमित्त भावे न अनेकधा कल्प कहा इस प्रकार बाह्य वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु जो राग द्वेष आदि भीतर हैं और शब्द स्पर्श आदि बाहर हैं इन वस्तुओं का इतर इतर संबंध दिखाई पड़ता है इस रूप से निमित्त निमित्त भाव से अनेक प्रकार से कल्पना कर देता है कि जीवों की मांग अलग अलग है अनेक हैं इसी प्रकार से कल्पना कर देता है जीवों को उद्देश्य करके जगत बनाता है कल्पना करता है ये कहा आगे कहते हैं इधानी जीव कल्पना निमित्त निरूपाई अब जीव कल्पना के निमित्त का निरूपण करते हैं जीव कल्पना क्यों होती है जी क्यों जीव की कल्पना होती है पहले जीव की कल्पना नहीं तो जगत की कल्पना नहीं करनी थी आवश्यकता नहीं तो जीव के लिए जगत की कल्पना करती है जीव मान लिया तो जगत बनाना पड़ा तो जीव की कल्पना ही क्यों करना थे कहते हैं देखो भाई जब अंधेरे में रस्सी पड़ी हो रस्सी करके ज्ञान नहीं हो तो वहां पर दूसरी कल्पना हो जाती है सर्व की कल्पना होती है इसी प्रकार वो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए जीवत्व की कल्पना हो जाती है यही यहां जीवत्व कल्पना के कारण अपना स्वरूप का ज्ञान ये कारण है ये बताना चाह रहे हैं निदान जीव कल्पना निमित्त तो जीव कल्पना की जो निमित्त है वो दिखाना चाहते हैं निरूपण करते हैं कारिका है अनिश्चिता यथा रज्जुर अंधकारे विकल्पिता सर्पधारा विभाव तद्वत आत्मा विकल्पिता अनिश्चिता यथा रज्जु रंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिर्भावस्तवदात्मा कल्पिता यथा रज्जु अंधकारे अनिश्चिता रज्जु अंधकारे विकल्पिता जैसे अंधकार में पड़ी हुई रसी है अंधेरे में पड़ी हुई रसी है अनिश्चिता निश्चित रसी करके निश्चित नहीं है अंधकार में पड़ी हुई रसी है वो विकल्पित हो जाते माने सर्प रूप में दिखने लग जाते विकल्प होना माने सर्प रूप से दिखना अगर रज्जु का ज्ञान हो तो सर्प बुद्धि नहीं होनी चाहिए नहीं होती किंतु रज्जु का ज्ञान नहीं है वो अंधकार में पड़ा है पड़ी है अंधकार में पड़ी हुई रसी है ठीक इसी प्रकार यहां भी यह आत्मा अंधकार में पड़ा है अंधकार माने अज्ञान भी अंधकार ही है तमा आशीत ऐसा शब्द अंधेरा है माने अधेरा जो काम करता है वही काम अज्ञान करता है अंधेरा क्या काम करता पता है वस्तु को ढक देता है यहां घट होगा जानकारी नहीं होगी तब अंधेरे वस्तु को ढकने का काम करता है वैसे ही अज्ञान वही काम करता है जो आत्मा वस्तु को ढक देता है इसलिए ये अंधेरे का दृष्टांत दिया है यथा अंधकारे अनिश्चिता रज्जु अंधकारे विकल्पिता जैसे अंधकार में अनिश्चित रज्जु है निश्चित नहीं रज्जु है करके ज्ञान नहीं है ऐसे रज्जु सर्प रूप से दिखाई देती ठीक इसी प्रकार किस रूप से विकल्पिता किस रूप से सर्वधारा वीर भाव सर्प धारा जल धारा वहां एक ही रूप से विकल्प नहीं होना है सर्प ही नहीं दिख रहा है जितने यहां पर बैठे होंगे सबको अलग अलग ढंग से वहां ज्ञान होगा कोई बोलेगा सर्प है कोई बोलेगा जल धारा है जल की धारा चल रहा है पानी बह रहा है और कोई बोलेगा लाठी है कोई बोलेगा भूछित्र है तरार है जमीन में तरार पड़ी हुई बोलेगा कोई बोलेगा माला है अनेक प्रकार से कल्पना के विषय बन जाती हो रही कल्पक भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना करते हैं एक ही प्रकार से कल्पना सबकी नहीं होती आपस में लड़ाई होगी तू झूठ बोलता है तू झूठ बोलता है किंतु बाद में जब प्रकाश जले तो सब फेल हो जाए तो ठीक यहां यही बोला यथा रज्जु अनिश्चिता रज्जु अंधकार विकल्पिता सर्प सर्प धारादिभिर भावैर विकल्पिता सर्प जलधारा माला भूषित्र आदि रूप से विकल्पित है होती है रज्जु तद्वत आत्मा विकल्पित उसी प्रकार आत्मा भी अंधकार में पड़ा हुआ है अंधकार में अज्ञान रूपी अंधकार में है अज्ञान रूपी अंधकार में आत्मा को ढका है इसलिए विकल्पित हो जाता है शुद्ध आत्मा ही इसमें टीका सर्वत आत्मा रज्जु के समान ही आत्मा शुद्ध आत्मा है निर्विशेष आत्मा है कोई विकल्प का आधार बना हुआ है उसका ज्ञान नहीं है रज्जु का ज्ञान हो तो सर्व की कल्पना न होती इस प्रकार आत्मा का वास्तविक ज्ञान हो तो जगत की कल्पना न होती न जीव की कल्पना न जगत की कल्पना कोई कल्पना नहीं होती ठीक है ठीक है श्लोक से तात्पर्य दर्शकम वृत्तम चिंता ये कारिका के तात्पर्य दिखाने के लिए पहले पूर्व की बातों का कथन करते हैं वृत्तम पूर्व बात पूर्व की बात की कथन करते हैं कहा तत्र इत्यादि शब्द दिखाने का समय हो गया है ये रखना ठीक कर ओम भद्रम कर्णे श्रृणियाम देवा भद्रम पश्येम्क्षता स्थिरंगे देव शिवराय ओम शांति